भाष्य स दृष्टान्त स इत्यादि जो मंत्र ये दृष्टान्त हिस्सा है पहला यथा लोके इमा नद्य सिंधमाना जिस प्रकार आप देखते हैं लोक में इमा नद्य सिंधमाना स्रवंत्य बहती हुई नदिया आना समुद्रो आयनम गति भाव या अंता समुद्रायणा समुद्री है अयन अयन मैंने गति गति का मतलब अपना स्वरूप ही वास्तविक स्वरूप आत्मभाव ये जो आगंतक स्वरूप है वो नहीं अपना जो पारमार्थिक स्वरूप उसको कहते हैं आत्मभाव ये आसाम जिनकी उन्हें कहा जाता तो उन नदियों को कहा जाएगा समुद्रायना समुद्रम प्राप्य अर्थ स्वरूप को प्राप्त करके उपगम्य अस्तम नाम रूप तिरस्कार थे नाम रूप ऐसे तिरस्कार युक्त होकर वह स्वरूप को प्राप्त कर जाते साधन चंग इस प्रकार से अस्त को प्राप्त हुए उन सगल नदियों का भिद्य दे विनश्यत कौन दो नाश हो जाएंगे नाम रूपे विनश्यक द्विवचन विद्य थे गंगा यमुना इत्यादि लक्षण गंगा यमुना इत्यादि जो नाम था और उनका जो अपना अपना स्वरूप विशिष्ट स्वरूप है वह सब समाप्त हो जाते हैं व्यावहारिक स्वरूप जो तो नष्ट हुआ है तद भेदे मैंने उनका नष्ट हो जाने पर या भेदे का मतलब अलग होने पर नहीं भेद का मतलब नाश हो जाने पर इसलिए विद्य का परे विनाश तक कहा चुके तद भेदे तद नष्टे सती समुद्र इतम प्रच्छते बस नाम उसका पड़ जाता है लोग एक ही नाम से पुकारते हैं यह समुद्र है जैसे आप लोग साहब कोई भी सोया होगा तो क्या कहते हैं सोया है कोई विशेष नाम नहीं होता कुछ व्यवहार अब फिर वो भी फैसला कहा गया फिर पूछेंगे हमने हे पांडरवा था नाम पुकारा के में आएगा विस्तार रूप से लेकिन इसने सुना ही नहीं गया भाई लोग तो कहते सोया है सोया तो कहा गया इस शरीर में तो नहीं है इस शरीर के अंदर होता तो फिर सुना क्यों नहीं इसने इतना जोर से चिल्लाया ऐसे भी कई होते हैं जब बगल में बाजा गाजा बजता हो बड़ा बारात भी जा रहा हो तो खराटे मारते रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए कहते कि भाई वो गया कहा था फिर तो अपने स्वरूप को ही प्राप्त इसीलिए कहते हैं कि उसी बात में कहते हुए कहा दिया इन्होंने कि तद भेदित प्रोचते है क्योंकि वो जो है ना तद वस्तु उदक लक्षणम एवं यथा अयम दृष्टान तद वस्तु बस उसी वस्तु का नाम ले लिया जाता है जैसे उदक लक्षणम जिसमें वैसे आपने दृष्टांत में देखा यथा अयम दृष्टान्त उदक लक्षणम जैसे दृष्टांत में जल रूप एक नाम वाला वह समुद्र हो जाता है मैंने समस्त नदियां हो गए समुद्र नाम से पुकारेंगे जल स्वरूप को ही लेकर के कहा जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी उस वस्तु का स्वरूप को लेकर कह दिया जाएगा ये ब्रह्म है ये आत्मा है ये जो भी है आत्मा पुरुष कहा दिया उक्त लक्षण से प्रकृत से पुरुष से प्रदृष्टो परिसंदा दृष्ट दर्शन से कर दो स्वरूप स्वात प्रकाश से करता सर्वदा तद्वत इमा कला इत्यादि उक्त लक्षण वाला प्रकृत जो यह पुरुष है पुरुष क्या हो रखा है परिदृष्टा हो रखा है परिदृष्ट पुरुष से परिदृष्टा का मतलब परिसमता दृष्टो सकल इंद्रियों के द्वारा सकल प्रकार के विषयों को देखने वाला यहाँ दर्शन से ये केवल आम से रूप को देखने वाली बात नहीं है घटपट आदि को देखना सबको लेना है दर्शन से कर्त हो सर्वभूत यद्यपि सर्वभूत है और दर्शन का कर्ता बना हुआ है जैसे दृष्टान के लिए अर्क स्वास्थ्य प्रकाश से कर्ता यद्यपि अर्क क्या है अपना स्वरूप प्रकाश रूप होते हुए भी प्रकाशों का कर्ता भी कहा जाता है सब उसको प्रकाशन करने वाला वह प्रकाश स्वरूप होने पर भी वह अपने से ही प्रकाशों को बिखेर दिया और उस प्रकाश के द्वारा उसका नाम प्रकाश वाला पड़ गया का स्वात प्रकाश से करता सर्वता चारों तरफ प्रकाश करता हो जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी तद्बद्ध इमाश्वर्ष कलाहा प्राणाद्या कलाहा जो प्राण आदि से जो स्वर कलाओं कथन किया गया है वे भी सब वास्तव में पुरुषायणा नदी नाम इव ये भी सब वो अपना पारमार्थिक स्वरूप जो पुरुष स्वरूप है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है इसलिए इनको भी पुरुषायन कर दिया गया है इन स्वर कलाओं लेकिन वो छटपटाहट तो महसूस नहीं होता है नहीं ना किसके अंदर है तो वास्तविक मुमुक्षुता है नहीं जैसे गुरु नानक को था गुरु नानक जी ने तो यही बीमारी बताई उससे जब बहुत परेशान होकर पूछा गया क्या तुम्हारी भी तुम ही बता भाई तुम तो परेशानी क्या और कहते हैं हकीम से यदि भाई आप दे सको तो मेरी तीन बीमारी है दवाई दे सकते हो तो दो एक तो मैं बिछुड़ गया हूँ उस परमात्मा से मैं बिछुड़ गया हूँ अपने परमार्थ स्वरूप से हट करके अपारवार्थिक मिथ्या स्वरूप जो प्राप्त हुआ हूँ इस बीमारी का दवाई दो कहा से लाएगा हकीम इसकी कोई दवाई है क्या है कौन सी जड़ी बूटी घोट के पिलाया जाए कि अकल सुधर के वापस स्वरूप को पहुंच जाए और वो भूल तो भूल हुई कोई बात नहीं चलो मान लिया जाए कुछ देर के लिए लेकिन यहां भूल करके यह विशिष्ट स्वरूप को परिचय स्वरूप को प्राप्त करने के बाद इसके नाम का भूख मिटता नहीं इसमें सबसे बड़ी बीमारी है हम रोटी खाते हैं तो ये भूख तो मिट जाता है लेकिन भगवान नाम स्मरण का जो भूख है ना तो नाम स्मरण का भूख नहीं मिट सकती उस भूख को मिटाने का रोटी है ये दवाई है तो वो खिलाओ कितनी बड़ी बात कहा तीसरी बात कल सब कारण है ना हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की वासनाएं ये वासना को नाश करने का को कोई दवाई हो तो बताओ जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं और कीड़े ही रोटी खा लेते हमें रोटी खाते ही नहीं है तो कीड़ों को मारने की दवा है या नहीं उसी प्रकार समझ जो वासनाएं हमको खा जा रहे हैं और हमें उसको मारने की कोई दवाई तो चाहिए तो हकीम कहते कोई दवाई नहीं हमारे पास कोई दवाई नहीं तुम भजन करो बस शांति से बैठो ठीक यही तो मैं कर रहा हूँ तुम लोग क्यों परेशान हो रोटी खाओ रोटी खाओ परेशान कर रहे हो हमारी रोटी जो हम खा रहे हैं फिर तो हमारी जो दवा हम तो ले ही रहे हैं फिर आपको क्या परेशानी तो उसी प्रकार यहाँ वो जो छटपटाए है ना इन कलाओं के अंदर छटपटाट होनी चाहिए जहां से कल्पित होकर हुए वापस वहां स्वरूप में भी नहीं का लेकिन वो मुमुक्षुता है नहीं ना वो छटपटाट है नहीं इसलिए बहुत हम सुंदर दृष्टान दिया करते हैं कि मान लो आप यहाँ से दिल्ली के लिए बस से बैठ गए जल्दी जाने की इच्छा सुपरफास्ट में बैठ गया धुआं से जा रहा है धैर धैर धैर जा रहा है और कहीं रोक ही नहीं रहा है और यहाँ आपने बहुत बढ़िया खीर का भंडारा मालपुआ का भंडारा खा करके पानी वानी पी करके बैठे हुए थे और दो घंटा तीन घंटा बीता जल पिशाब इधर तेज लगी हुई है और बस रोकने का नाम नहीं ले रहा है परेशान हो गए होते होते होते होते कर चार घंटा बीतने के बाद में खतौली पहुंच गई थी वहाँ गाड़ी रुकते क्या करते आप ये नहीं देखते किसके सर पर पैर पड़ा किसके गोदी पे पैर पड़ा किसका क्या हो रहा है वो छान करके फाड़ फोड़ कर भागते जाएंगे ऐसे बाहर भागेंगे और ये भी नहीं देखे कोई देख रहा कि नहीं देख रहा कहीं किनारे खड़े होकर के अब रहा वो जो अंदर छटपटाहट थी ना परेशानी अब किसी तरह से उनको छोड़ दू मैं और अंदर जो भरा है उसको निकालना चाहते इसी प्रकार संसार को छोड़ने की छटपटाट किसको है पेशाब को छोड़ने की छटपटाट तो सभी के अंदर है और सब रोजाना छोड़ते ही दसों बार लेकिन संसार को तो एक बार भी एक दिन भी छोड़ने की चेष्टा नहीं है बड़ा आश्चर्य तो उसी में अर्थ पुरुषायणा पुरुष को ही प्राप्त करने की स्वरूप को ही प्राप्त करने की चेष्टा उसके लिए ही ये सब हुए थे इसलिए वो समुद्र पुरुषो अयनम आत्मभाव कवनम या संकला नाम ताप क्योंकि जैसे वहां समुद्र वैसे यहाँ पर भी क्या पुरुष क्या है यही आयन है पारमार्थिक स्वरूप है वही उसके गमन का स्थान है जिन कलाओं का ऐसा स्वरूप है उन कलाओं को कहा जाता है पुरुषायणा पुरुषम प्राप्य पुरुषात्म उपगम्य पुरुष को प्राप्त करके उन्हें पुरुष के आत्मा स्वरूप होता है स्वरूप को प्राप्त करके तथा वास्तव थी ठीक उसी प्रकार जैसे नदियां अस्त को प्राप्त कर गई वैसे कलाएं भी अस्त को प्राप्त कर जाएंगे विद्यते क्या आसाम नाम रूपे व्याख्या कला नाम रूपम चेथास्व कला का नाम क्या है प्राण श्रद्धा ये तो पढ़ा था खम वायु इत्यादि नाम थे और उसे स्वरूप क्या है जो बताया गया था कोयण गर्भ अंतर्याम यह समष्टि है इत्यादि प्राण का स्वरूप बताया है नहीं श्रद्धा का स्वरूप बताया सर्व कर्म फल फल प्राप्त्यर्थ जो है कर्म प्रवृत्ति हेतु भूता वस्तु है वह भी सभी के अंदर अलग अलग रहता है है ना उनकी सभी एक ही कर्म को करेंगे क्या वैदिक कर्म करने वाले भी क्या सभी केवल दस फुट मग्न करेगा अरे कोई अश्वेद कर रहा है कोई राजस्वी कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है सभी की श्रद्धा में भी स्वरूप में वर आश्रम भेदानुसार और अपने अपने जो है बुद्धि ज्ञान विवेक आदि के अनुसार भी भिन्न भिन्न हो जाती है श्रद्धा का स्वरूप और इसी प्रकार अन्य भी उसके विशिष्ट स्वरूप क्या हो जाएंगे पृथ्वी का पांच गुण वाला था आकाश का एक था इत्यादि उसका अपना अपना विशिष्ट स्वरूपों को लेना तो पंचदा स्वम भेदे च नष्ट भेद नष्ट हो जाने पर कौन दो नाम रूपयो हो नाम और रूप इन दोनों के नष्ट हो जाने पर यद अनष्टम तत्तम जो अनष्ट तत्व था कौन पुरुष इतम उस तत्व को ही लोग किस नाम से पुरुष को कहा करते हैं पुरुष नाम से कहते हैं कौन लोग कहते हैं आम आदमी नहीं कहता आम आदमी ये कह सो रहा है वही थोड़ी कह ब्रह्म है ये आत्मा है ऐसा नहीं कहेगा इसे तो ब्रह्मविद भी प्रोचित है केवल ब्रह्मविद्ता लोग ही जानते हैं सदा सौम्य तुदा संपन्नो भवती उस समय है सौम्य यह सुशक्ति काल वास्तव में सब उस आत्मा उस ब्रह्म के साथ ही एक ही भूत होकर रहता है इसीलिए उस समय वह क्या है वह ब्रह्म है आत्मा है ऐसे ब्रह्मविद्ता लोग ही कहा करते हैं बाकी लोग देखेंगे देवदत्त सो रहा है तो यहां विद्वान गुरुणा वृषित कला प्रलय मार्ग सहेश विद्या प्रविलापिता सु अविद्या कर्म काम कर्म जनितासु प्राणादि कलासु अकलो अविद्याकृत कला निमित्त ही मृत्यु कलापगमे अकरत्वादेव अमृत भवती कले तो सुनते श्लोक ये एवं विद्वान जो इस प्रकार का विद्वान है जिस तत्व को जान लिया इस प्रकार से किससे जाना अपने आप पढ़ के नहीं गुरुणा गुरु के द्वारा प्रबोधित होकर जान लिया प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग गुरु के द्वारा इन कलाओं के प्रलय के मार्ग को तरीके को स्वरूप को कथन किया है दर्शाया गया है जब तक ये शेष विद्या वही विद्वान वह इस अमृत स्पृश भाव को प्राप्त करता है यह एवं विद्वान सहेश विद्वान एवं विद्या अपनी गुरु के द्वारा प्रदत्त विद्या को लेकर प्रविलासु विनाश को प्राप्त कर दिया गया है किनको अविद्या काम कर्म जनितास प्राणादि कलाश अविद्या काम और कर्म से जन जो प्राणादि सकल कलाएं हैं इनके नष्ट किए जाने पर अकल हो अकल हो जाएगा वो अकल हो जाएगा मतलब अकृत कला निमित्त ही अविद्याकृत कला निमित्त गए मृत्यु अविद्या कृत जो कलाएं तक ही मृत्यु का व्यवहार होता है तद अपगमे इसलिए कलाएं निवृत्त हो गई और वो अकल हो गया अकलत्वादेव अकल हो जाने के कारण से ही वह अमृतो भवती वह अमृत हो जाता है मृत्यु धर्म से रहित हो जाता है तदेत सुनर्थ एस श्लोक इस विषय में यह श्लोक ही है अराइव रतनाभ कला यस्मिन्दिष्ठिता पुरुषं वेद यथा बाबो मृत्यु परिव्यथा जिस रथ की नाभि में सारी आराए समर्पित होकर रहा करती है ठीक उसी प्रकार से यस्विन कला संप्रतिष्ठिता जिसमें सारी कलाएं प्रतिष्ठित हुआ करती हैं उसी को उस पुरुष को तम वेद्यम उस ज्ञातव्य पुरुष को पुरुषम वेद जानो हे शिष्य यथा मारो मृत्यु परिव्यथा जैसे तुम्हें यह मृत्यु विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित न करें वैसे उसको साधनो एकमात्र कलाओं के अधिष्ठान पुरुष स्वरूप को जानना उसको तुम जानो वहां हमने वो युष्मा तुमको मां था ये सब तुमको व्यतीत न करें कौन मृत्यु ये कला रूपी ये सब कलाएं क्या है मृत्यु स्वरूप ही है ये मृत्यु स्वरूप है सारी कलाएं जो है ना आपको किसी प्रकार की व्यथा प्रदान न करें ऐसे कह दिया गया भाष्य परिवार तथा चक्र के जो अनेक अवय में वो सब कहा है नाभि में समर्पित होते हैं रथ नाभो रथ चक्र से नाभो रथ चक्र के नाभि में रथ नाभो ने रथ चक्र से नाभो रथ चक्र के नाभि में यथा प्रवेशिता जिस प्रकार से प्रविष्ट होकर एकीभूत होकर रहे हैं आश्रित है तदाश्रिया भवंती व नाभ्याश्रित होकर नाभ्याश्रय हो जाते हैं तथा यथा तथा कला प्राणाद्या इसमें पुरुषे प्रतिष्ठिता ये प्राणादि कलाएं जिस पुरुष प्रतिष्ठित होते हैं उत्पस्थिति लय कालेशु उत्पत्ति काल में स्थिति काल में और लय काल में भी जिसमें प्रतिष्ठित हुआ करते हैं तम पुरुषम कराणाम आत्मभूतम उस पुरुष को जो कलाओं का अपारमार्थिक स्वरूप है उसको वेद्यम वेदनीयम पूर्णता पुरुषम पुरुषेना वेद जानिया देखो पुरुष का दो व्याख्या कर दिया वेद नियम क्यों पूर्णत्वाधिक पुरुषम वो पूर्ण होने के नाते उसका नाम पुरुष हो गया अथवा पुरुष अथवा पुरुषम पूर्व में शयन करने के कारण से इसका नाम पुरुष हो गया जैसा जानो जानिए उसी वेद उस पुरुष को जानो यथा हे शिष्य उसको जानने से क्या होगा लाभ होगा कद अरे शिष्यों ये जान लो कि उसको जानने से क्या लाभ होता है कि माँ वो मन युष्मान आप शिष्यों को माँ मने माँ परिव्यथ है तो परिव्यथा न हो न करे कौन परिव्यथा दे रहा है आपको मृत्यु परिव्यथा माँ करो तो न क्या ये तो पुरुष हो यदि मान लो उस पुरुष को आपने नहीं जाना तो मृत्यु निमित्ता व्यथा आपन्ना नहीं की वही एवं मृत्यु निमित्त जो विभिन्न प्रकार के दुख प्राप्त होंगे अतएव आप सब दुखी ही होंगे दुखी ही रहेंगे अतः तन महाभूत ऐसा न हो इसलिए युष्माकम आप लोगों के साथ ऐसा न होवे इसलिए यह कहा है कि आप उस पुरुष को जानिए जानने योग्य संसार में वही एक वस्तु है और अन्य कोई नहीं ताम एवं शिष्य शिष्यांश हो वाच कि जो है उन आचा अंत में आचार्य प्रहलाद कहते हैं कि भाई जो कुछ भी बताना था उस पर ब्रह्म विद्या वो हमने बता दिया और कुछ नहीं रह गया तान होवा देव हम एक परम ब्रह्म वेदा नाहत परम अस्ती तान एवं अनुशिष्य शिष्यान उन छह शिष्यों को पूर्वोक्त प्रकार से उपदेश देने के पश्चात पिपलाद किलो पिपलाद महर्षि जी ने दृढ़ निश्चय के साथ ऐसे कहे एदावत विद्यम परम ब्रह्म वेदा हम मैं बस इतनी ही उस पर ब्रह्म को मैं जानता हूं जो वेद्य रूपेण ग्रहण होता है ऐसा उस परब्रह्म तत्व को मैं इसी प्रकार से इतनी ही जानता हूँ इससे आगे कुछ नहीं जानता और वास्तव में से आगे कुछ है भी नहीं ना तो अस्मात परम अस्थि ये भी दृढ़ता वर्ग इससे आगे कुछ है भी नहीं नहीं इतना ही मैं जानता हूँ इससे आगे कुछ और होगा तो मित्र पढ़ लो ऐसी बात नहीं है इसलिए ये भी दृढ़ वहां पर जो निश्चय करने के लिए कह दिया ना तो अस्मात परम अस्थि प्रकृष्टतरम इससे भी प्रकृष्ट कर कुछ और भी उस पर ब्रह्म के संबंधी ज्ञान नहीं है यदि एवं उक्तवान शिष्याणाम अविद शेषा अविदित शेषास्तित्व आशंका निवृत्त है कृथार्थ बुद्धि चरणार्थ उन शिष्यों को इस प्रकार से वे दे वे तव्य इससे भी अतिरिक्त कोई प्रकृष्ट कर नहीं है क्यों कहा इसलिए कहीं ऐसा न हो उन शिष्यों के मन में अविदित शेषत्व बुद्धि ना हो जाए अभी पूरा हमने नहीं जाना अभी पूरा जानना बाकी है ऐसा उनके मन में कोई आशंका हो उस आशंका का निवृत्ति करने के लिए इन्होंने इस तरह से कहा और कृथार्थ बुद्धि जन्मार्थ इसलिए भी कहा कारण कि भाई इससे ही आप कृतार्थ बुद्धि वाले हो गए हैं इससे अतिरिक्त और कर्तव्य भी नहीं है श्रोतव्य भी नहीं है और अब कर्तव्य भी नहीं रह गया जो इस ज्ञान को पचा लिया वो जीवन मुक्त हो गया तो कर्तव्य कहा रह गया इसलिए कृतार्थ बुद्धि हो गया है ये बात कृतार्थ बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए भी इस प्रकार से निगमन किया गया है निश्चित कर दिया गया है अब वो क्या करे शिष्य लोगों ने सोचा ये तो हमको कृतार्थ कर दिए सकल संशय हित कर दिए हैं क्या दें कुछ दक्षिणा पानी क्या दिया जाए अथवा ऐसा कोई रुपया में वैल्यूएशन कर दिया जाए इधर रुपया कहते तो कोई इसका बराबरी कुछ है ही नहीं संसार इसमें निर्णय लिया शिष्यों ने बस इनको प्रणाम करो और आजीवन श्रद्धा से इनका ऋण चुकाना है दूसरे को पढ़ाना इसके अलावा कोई रास्ता नहीं इसको चुकाने का ते तम अर्चयंत तम पिता यो अस्माकम विद्याया परम बारम दारयसीति नव परम ऋषिभ्य नव परम ऋषिभ्य उनको कह आप ही हमारे असली पिता हैं बाकी तो पैदा करने वाले पिता होते हैं आप हमारे असली पिता हैं क्यों देखिए ते तम अर्चयता ते शिष्या तम विपलादम गुरुम अर्चयंत पूजा करते हुए क्या कहा आप जो है हमारे पिता है न पिता क्यों इसे कहा कि यो अस्माकम अविद्या परम बारम धारयसी इनकी जो है विद्या दान करके आपने जो है हमें एक प्रकार से ये जो अविद्या रूपी समुद्र था इसके पार को जो पर ब्रह्म है वहां तक तरा दिए हैं पार करा दिए हैं इसलिए आप हमारे पिता हैं विद्यारूपी नौका के द्वारा या विद्या दिया उन्होंने पर, पर विद्या परा विद्या दिया है जो पर विद्यारूपी नौका के द्वारा अविद्यारूपी जो समुद्र को तार दिया है अतः आप परम ऋषि हैं आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं दो बार जो कहा गया है आदर को प्रकट करने और उपनिषद की समाप्ति का द्योतन करता है तदस्ते शिष्या गुण अनुशिष्टा ते शिष्या ते मने शिष्या गुरुणा अनुशिष्टा गुरु के तरह उपदिष्ट होकर के तम गुरु कृतार्थ संता उस गुरु को स्वयं कृतार्थ हो जाने के कारण से होते हुए विद्या निष्क्रम अपश्यंता उस विद्या को खरीदने की और कोई तरीका को दिखाई नहीं दिया दक्षिणा पानी दे करके उनको संतुष्ट कर दिया जाए किसी प्रकार से कोई चीज दे जा करके तो उससे नहीं हो सकता विद्या क्रयण कभी नहीं हो सकता इसीलिए उन्होंने क्या किया किम कृतवंता फिर उन्होंने क्या किया उसके लिए तो जब उनकी पूजा करी अर्चयता पूजयंता पादयो पुष्पांजलि प्रक्रिया नहीं ना प्रणिपात उनके चरणों में पुष्पांजलि को प्रकीर्ण करके प्रदान करके फूल चढ़ाए और साष्टांग शिरसाच प्रणिपात साष्टांग प्रणाम के द्वारा उनके दर्शन ने पूजा की और कि मूचू उन्होंने क्या कहा इत्या का तम मीनो स्मागम पिता आप ही हम लोगों के ब्रह्म ज्ञान रूपी शरीर वाले होंगे तो ब्रह्म ज्ञान रूपी शरीर को कौन मैदा किया बलात् महर्षि इसलिए भी विपलात पिता हो कि नीचे श्लोक दिया है जनकश्चोपनेता च विद्या प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितर स्मृदा इन पांच को पिता करके शास्त्रकारों ने सम्मति दिया है इसी के आधार उन्होंने पिता कर दिया एक तो जनक जो शरीर को पैदा किया स्थूल शरीर को एक दूसरा जो ऊपर संस्कार करके गायत्री मंत्र को कान फूंक देता है वो दूसरा पिता है तीसरा जो विद्या प्रदान करता है चौथा जो अनुदान देता है और पांचवा जो भय से रक्षा करता है ये पांच प्रकार के लोगों को पिता कहा जाता है और यहाँ तीसरे वाले जो यश्च विद्या प्रचति उसको टीके हैं दुप्त मात्र के द्वारा विद्या का निश्चयन किया ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए आप मेरे पिता है ऐसे कहे मात्र से ये नहीं कि विद्या ग्रहण चुक गया विद्या को खरीद लिया गया या उसने उनको चुका दिया कि इतने मात्र से ऐसे भी ना समझे क्योंकि आगे लिखते इसलिए है कि देखो ब्रह्म शरीर से विद्या चरित्र ब्रह्मात्मक शरीर को एक तरह से उन्होंने विद्या के द्वारा उत्पन्न कर दिया है नित्य से अजरावर से अवयस्य ब्रह्म शरीर से और ब्रह्म रूपी शरीर कैसा है वो नित्य है अजर है अमर है और अभय यमेव अस्माकम अविद्या क्योंकि जो आप ही है तम एव अस्माकम अविद्या विपरीत ज्ञान अविद्या में विपरीत ज्ञान से जन्म जरा मरण रोग दुखकारी ग्राह जो कि जन्म जरा मरण रोग दुखकारी ग्रह है आपके ग्रह है उसको बोलते हैं मगरमच्छ के समान निगल जाते हैं हमको ना कर डालते अविद्या महोदय है ये सब मगरमच्छ कहा है अविद्या रूपी समुद्र में वो ऐसी विच, विचित्र समुद्र में विद्या प्रवेरा विद्या रूपी नौका से परम अपनरावृत लक्षण परम है अपनरावृत लक्षणम इसलिए वो पर है विद्या रूपी नौका क्योंकि वहां पुनरावृत्ति नहीं होती है अर्थात मोक्षाख्यम महोदय इव पारम जैसे समुद्र से कोई नौका से पार करा देता हो उसी प्रकार आप लोग आपने जो संसार से हमको पार करा दिया है असमान इत्यतः इसलिए ही आप जो है पितृत्व तो असमान अन्यों की अपेक्षा से आप में जो है ना पितृत्व जो है हम लोगों के प्रति उपपन्न हो ही जाता है इतरों भी पिता शरीर मात्र जनित दूसरे भी पिता है हम उसको आप पिता नहीं कह देंगे कहेंगे वो हमारा असली है तुम नकली हो या तुम नहीं हो ऐसा नहीं कहा जा सकता वो भी पिता ही है लेकिन वो शरीर मात्र वो शरीर मात्र को तथा सब सब तमो लोग इसलिए आप ही हमारे वो सब पिताएं तो पूज्य हैं आप प्रपूज्यतम है प्रपूज्यों में भी प्रपूज्यतम है अपना वक्तव्य महात्यंतिक अभयदातुर अभिप्राय क्योंकि जब वो शरीर को पैदा करने वाले पिता भी जब प्रभु चेतम है तो आपका बारे में जो तो कहना ही क्या जो कि आत्यंतिक अभयदान करने वाले हैं इसलिए आपको पिता यदि कहते हैं तो इसमें कोई अनुपत्ति नहीं है नवा गर्भ ऋषिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्यो नवा ब्रह्म संप्रदाय के होता उस परम ऋषि को हमारा नमस्कार है यदि विरोचनम आदरार्थम जो दो बार कहा गया था परम रमा परम ऋषि वह आदर प्रकट को करता है और साथ साथ उपनिषद उपनिषद के समाप्ति का भी ये द्योतक है तो वासने में भी ब्रह्म उपनिषद में देखो क्या होता है वहां पर भी अज्ञल के महर्षि जनकों को जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं वो क्या करता है क्या दक्षिणा देगा वो वो कहता है कि आ, हाँ, हमारे समस्त राज्य हमारे समस्त प्रजा और खुद मुझको भी मैं आपके चरणों में अर्पण कर देता हूँ आपकी दास्यत्व के लिए आपकी सेवा ने आजीवन सेवा के लिए अर्पण कर दिया और क्या करता हूँ प्रणाम मैंने वहां ज्ञापन कर दिया ये ना कि यहाँ जैसे कह दिया पिता है और प्रणाम कर दे चल दिए नहीं ये ब्रह्म विद्या को ग्रहण यदि हो गया आपको तो आजीवन समर्पण है गुरु के प्रति ये वह जनक किसको या टीकाकार स्पष्ट करते इसलिए पितृत्वादेव पूज्य तरत्म परिचार्य स्वामित्व किम वक्तव्य मित्यर्थ अतएव वाचने के महान चापी सदासी इत्युक्तम भाव पितृत्व का मतलब पूज्यता तो है और पूज्यता में असली जो जन्म देने वाला पिता भी पूज्यता में इसलिए मातृदेव भवा पितृदेव भवा आचार्य देव भवा है ना एक पूज्यतमा है माता पूज्यतर है पिता पूज्य है आचार्य लेकिन प्रपूज्य कौन हो गया जबर विद्या देने वाले प्रपूज्यतम कर दिया हूं क्यों ऐसे तो उसी को बता रहे हैं कि परिचारितम स्वामित्व किम वक्तव्यम पूज्य तरत्व भी है परिचारित्व भी है स्वामित्व भी है इसके बारे में कहने की क्या आवश्यकता क्यों वक्तव्यम अनंतरम आत्यंत अवैध और जो व्यक्ति आत्यंतिक अवैधान दिया वो तो केवल लौकिक अवैधान देता है जो जन्म देने वाला पिता है वो लौकिक अभयदान दिया आप आप आपको अपने घर में सुरक्षित रखा है ना बाह्य भय से आपकी रक्षा किया कि नहीं किया लौकिकी भय से रक्षा कर दिया इसे वो भी लौकिकी अभय प्रदान करने वाला पिता है और पारलौकिकी अभय प्रदान कर रहा है जो आपको गायत्री में प्रवेश कराने वाला ने संस्कार कराने वाला जो आचार्य गुरु है वो भी इसलिए पिता है क्योंकि आपको पारलौकिकी भय से रक्षा कर क्योंकि आपको जन संस्कार करा दिया गायत्री मंत्र दे दिया उसे आप गायत्री को जपोगे वेद को पढ़ोगे अपना वर्ण आश्रम धर्मों को जानकर तनुसार कर्म करके ऊर्द गति स्वर्गादी लोगों को प्राप्त करोगे उस द्वार को खोल दिया और पारलौकिक मिले या नहीं मिले हो जो भय को उसने गायत्री द्वारा दूर कर देता है इसलिए पारलौकिक भय को निवृत्त करने वाला होने के कारण से पारलौकिक अभय प्रदान करने वाला उपनेता को पिता कह दिया लौकिक पारलौकिकी संसार में इस अभय भयंक से अभय प्रदान करना अनित्य अभय प्रदान ही है इसलिए इन सभी अपेक्षा से जो श्रेष्ठ है इधर से अनुदान करने वाला और जो तात्कालिक भय का रक्षा करने वाला भय त्राता अन्नदाता भय त्राता वो जो भी लिया ना वो तो बिल्कुल ही तात्कालिक अन्नदाता क्या किया आप वर्तमान भुख को भूख के कारण से आप मरने की जो संभावना थी उससे आपको बचा दिया वो तो तात्कालिक अवैध प्रदान हुआ और इसी प्रकार से कहीं आपका पीछे कोई चोर फंसाया या कोई पशु भाग रहा है या कुछ कर रहा है उससे आपको किसी ने बचा दिया जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया कि दूसरे पत्थर मार के उसको भगा दी जैसे तो आपकी रक्षा किया कि नहीं किया उस भय से आपका रक्षा जो हो गया वो भी लौकिक भय के अंतर्गत है लेकिन वो सारी चीजें है ना तात्कालिक है कुछ क्षणों के लिए कुछ समय मात्र के लिए होता है कुछ क्षणों के लिए हो गया त्राता कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए हो गया त्राता और जीवन भर के लिए हो गया पिता जो अभय प्रदान कर रहा है जिंदगी भर आपकी रक्षा करता है पढ़ाता है लिखाता है खिलाता है पिलाता है कपड़ा सपड़ा या बड़ा आगे आने जाने की व्यवस्था सब कुछ देखता है स्कूल ढंग से आवे जावे कहीं गड़बड़ ना हो कितना वो ध्यान रखते हैं वो तो आप देख रहे हैं कुछ तो कुछ समय के लिए थे हमें प्रदान किया दूसरे कुछ ज्यादा समय के लिए भाई आप भोजन खा लेते कम सात आठ घंटे के लिए तो आपकी तृप्ति हो गई कोई परेशानी नहीं कुत्ता पीछा पड़ गया अरे वो भय कुछ देर के लिए था ना तो घंटे भर भी नहीं पा आधे घंटे की बात कहीं पंद्रह मिनट के अंदर ही निपट जाता है तो कुछ क्षण क्षणिक अभयदान हुआ भय प्राप्त शब्द का कुछ घंटे या दिन भर या दो दिन तक भी एक बार भोजन मिल गया दो दिन तक भी कहीं का काम चल चल जाता है जरूरत नहीं पड़ती है और एक दो दिन तक के भय को दूर कर दिया अनुदाता ने और जीवन भर आपका जो मार्गदर्शन करके रक्षा करके अभय प्रदान करता है जन्म देने वाला पिता लेकिन इस जन्म और ऊर्द गति वाला जन्म ऊर्द लोगों में जन्म मिल जाए आपको वो और जरूर श्रेष्ठ हुआ ना वो तो श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ कौन जो आपको उपनयन संस्कार करके गायत्री को भेज देता है और श्रेष्ठ हो जाता है इन चारों से इसलिए प्रपूज्यतम कह दिया गया उसको जो कि इस संसार का भय से ही आपको सदा सदा के लिए अवय प्रदान करा देता है इसे ऐसे अवय प्रदान करने वाले के प्रति हम क्या करना चाहिए ये बात तो या तो संक्षेप में बता दिया पूजा करो अर्चना करो जब प्रणाम करो सब तो बता दिया लेकिन आगे जा करके महाबली जब में वृदान प्रश्न देखेंगे जिसका उदाहरण देकर कहा तो क्या कहता है माम छापि सह दास्यायी मेरे सहित ये मत सोचे मैं राजा हूं तो मैं अहंगारा बैठे रहूंगा मैं आपने अभय प्रदान किया है इसलिए मेरी अपने समस्त राज्य राज्य ऐश्वर्य प्रजाएं उन सब के सहित सह माम मुझे भी आप दासत्व के लिए स्वीकार कर लीजिए ऐसे जो दक्षिणा प्रदान इसी प्रकार से ही हम विद्या को एक तरह से ऋण चुका सकते हैं नहीं तो विद्या का ऋण चुकाना असंभव है इस बात को प्रकट करने के लिए इन्होंने दो बार यहाँ पर नमा परमर्षभ्या नमा परमर्षभ्या आदर को प्रकट करता है और आदर का कारण भी प्रस्तुत कर दिया ओम पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति शांति